कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ शंकर का दादा कौन है हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे ये कुछ सौदा नहीं बिरा बंदी छोड़ बताओ है कि ये काल ने हमें ऐसे अभी काल के बारे में जानकारी देंगे आज आपको समय रहा तो जब ज्ञान होगा कि हम कीतुड़ जे बैठे इस काल ने हमें बड़ो रक्षा से या चामड़ी भूरी और काली रंग के ऊपर तय थोड़ा सा रंग कर रख्या है किसी का काला किसी का गोरा और भीतर इसमें एक सा कुबाड़ है चाहे वो गोरा से चाहे काला से क्या इसमें भरिया पड़ा से कुत्ता मरिया हुआ देखा मैंने एक्सीडेंट के अंदर आप भी देखते हो रोजाना आंत उसकी इतनी दूर तक छिड़ती जा रही और उसका चमड़ा जो है जमीन पर सड़क पर जो जमया हुआ पहियों से या तो मतलब यातायात की और यू एक कुबाड़ अपने अंदर से ज्यो का त्यों कति फर्क नहीं पर ऊपर ते इसे बड़ो रखे हैं कि इतना प्यारा शरीर ओह चला गया तो बिराना त्रिगेल के बनेगी यो भय बाढ़ रखा ये भी बस की बात नहीं क्योंकि ये के ये जीव इस किसी रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण संत की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों में दबा नहीं देगा तब यू निर्भय होने लगेगा अचेतनता आवेगी यथार्थता का ज्ञान होगा कि एकदम जाए तो सरे से बीरा रो ले चाहे पीट ले के ये जीव इस से रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण संत की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों में दबा नहीं देगा तब यू निर्भय होने लगेगा और चेतनता आवेगी यथार्थता का ज्ञान होगा कि एकदम जाए तो सरे से बीरा रो ले चाहे पीट ले तो क्या हुआ अब अंदर केस है मांस लहू बलगम थूक बेस्टा पेशाब और बेरानी के के इसमें भर रखा है हार्ड है? हाँ? और ऊपर ते चौपड़ का लीप का ऐसा सुथरा चालता कर दिया और भाई खूब न सोचा से तेरा बाबरी धरती पर कुछ नहीं अच्छे सुथरे कपड़े पहन के और नो देखता चाल लगा कोई तो न देखे सक नहीं और कार में बैठ के बाहर में हाथ काट के सिगरेट लाओगा अग देखा तो देखा जब नो तो ये चीजें हमने यहां को भी सीखी अच्छी चीज नहीं तो संता ने बताया कि इसमें तुम राजी भी क्या पहो रहे हो इस काया का गर्भ ना करिए के काला के गोरा रे पर बिना भजन कुछ काम नहीं आवे चाहे इस पर रोज सुगंधी छड़को और भाई ऐतर छड़को और चाहे इस पर रोज चंदन ला लो ये पांच तथ का पुतला आखिर में मिट्टी में सरेगा इसने चाहे को राजी हो चाहे बिराजी हो पर या माटी होने पहले इसने की कमाई करनी इस मिट्टी तय ये रिजेक्ट होने पहला हमने इस जो काम करना वो करना से अब महाराज कहते हैं कि खेत जो है या धरती एक बार खत्म होगी धरती भी नष्ट होगी तो उसने पहले जो हमने इससे कमाई करके अपना उपलब्धि कर ली तो वो अपनी होगी यानी जिस प्रकार अभी आपको बताया कि ये काया भी काम नहीं आवेगी चाहे कितना इसको सजा ले धजा ले फिर कह इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के घोड़ारे और जोड़ जोड़ जन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा रे आप अखबारों में सुनते हो फलाना व्यक्ति इतना करोड़पति था और एक्सीडेंट में मारा गया कोई जहाज के एक्सीडेंट में मारा गया करोड़ों रुपये की जायदाद नाजायज मिली अब उन मूर्खान को पूछनिया हो कदे सत्संग में आ जाते वह भगत जी तेनो पता चलता है कोविद की गिठड़ी क्यों सिर पर बांधन लाग रहे सो यो दो दिन का जीवन से और जोड़ दिया इतना सामा और जो बुरे कर्म के माध्यम से धन एकत्रित किया भोगना भी तूने ही पड़ेगा फिर कुत्ते और गधे वो रानी जो किसमिस के हलवे खाया करती और उसका पति देव बड़ा अफसर था लूट लूट कर लाया करता था और वह अच्छा अच्छा गहने पैरा करती आज कुतिया बड़का हंड हैगी उस बड़े बाजार के अंदर इस दुख का जिसने बेरा पट गया वो तो भक्ति कर लेगा और नहीं तो भाई कति समझ में नहीं आवा इसकी मरोड़े नहीं ली पड़ती इसकी ठाड़ नहीं ली पड़ेगी और जब तक हम सत्संग में नहीं आओगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा हमें जानकारी नहीं होगी कि अभी ये कुबद कितने दिन काम करेगी तो यहां बताया कि इस माया का गर्व ना करियो के हाथी के घोड़ारे जोड़ जोड़ दन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा दोहिदा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे कोई तनो का किसने बेरा से भगवान सहकना ना से किसने देखा सा या दुहिदा और साथ में यह दुर्मति है कि सत्संग के लिए रह सक चतुराई से कि चार बात सीख ली अपने छाणा नहीं जानता तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं तरह काम नहीं चले संता के अनुसार पूर्ण अनुसरण करना होगा और उनने की बात को सच मानना होगा क्योंकि हम इनका जोड़ जुगाड़ नहीं कर पाते और जब तक जोड़ जुगाड़ सही ढंग से नहीं बनेगा तब तक हम कामयाबी नहीं हो सकते उच्च ज्ञान का तो लाभ नहीं मिलता अब इस सबसे बड़ी भूल भलैया यास है हाँ फिर प्रसन्न हुआ कि जी फिर हम क्या करें कि गुरु की शरण में जाओ गुरु क्या करेगा कि शरण पड़े न गुरु संभाले जान का बालक भोला रे जैसे को छह महीना का वर्ष भर का बच्चा हो और पालने में लौट रहा हो माँ जा रही हो पानी लेन और वो सारा टट्टी पेशाब करके कपड़े भी धांस ले हाथा ने भी भर ले और छाती मुंह पर भी ला ले और मां जब देखेगी रोता पाया कर फिर इस, सिचुएशन में हम छक्के को बद करांगे कमावांगे इधर उधर की रिश्वत लावांगे घर में भर लाएंगे फिर वह कोबद शुरू होगी ना हमारे घर में किसी छोरे का हाथ कट गया छोरी बेदुआ होगी बैसी बूंदी बीमारी होगी क्योंकि ठीक ना होगी फिर वो रोन लागे बुरी तरह तो वहां कहते जब वो इस बच्चा से धस धस लेगा ना फिर वो रोएगा पहले तो खेल बनाता उस टट्टी ने नू मारेगा नू मारेगा नू कर ले से उसको मालूम नहीं पर वो खेल समझ रहा जब वो सारे का दस लेगा फिर रोएगा तो फिर उसकी मां आवेगी मां के करेगी उस लड़के ने उसने बूढ़ा नहीं लागता फिर भी जाकर उसके सारे कपड़े तारेगी धोएगी नुहावेगी और फिर सुथरे कपड़े पहना कर साफ छाती का लावेगी लाड करेगी दूध प्यावेगी इसी प्रकार हम चाहे अज्ञानतावश कितने माड़े कर्म कर चुके हैं संत वो मां की तरह होते हैं गुरु ये उसके सारे पाप कर्मान सत्संग से प्रवचनों से शब्दों से अच्छे शुभ कर्म करवा कर धर्म करवा कर उसने साफ कर लेगा और अपने संग राखण जोगा कर लेगा फिर उससे प्यार करेंगे और नाम रूपी दूध प्या कर उसको प्रफुल्लित कर देंगे यहाँ का शरण पड़े न गुरु संभाल जान के बालक भोरा रे तेरा एक काम से और कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे इब सुई में डोरा गल जाओ कितना नहीं जाओ उसका गेल गेल लटक्या करे तेनो गुरु करनाम ध्यान की तो बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि परमात्मा पाने का एकमात्र रास्ता है कि अपने गुरु के वचन पर डट करे अगर इस पर नहीं डटते हैं तो हम अज्ञानी जीव से और अपने बड़े बड़ाए खेल में बिगाड़ जाएंगे कितना तगड़ा प्लेयर हो फॉल होंदे बार बैठा दिया जाएगा फिर बार बैठे बैठे का लो जड़ा कर उसका जब तक ख्यास नहीं करता और जब बार बैठा दिया जाएगा ना जब वो कबड्डी का लेंगे जब न्यो करेगा बैठा बैठा उसका बस का कुछ नहीं जब तक मैं बना नहीं और वो कबड्डी गाला तो न्यो कर रहा होगा बाहर खड़ा खड़ा तो हम फिर बार हमें पा सकते कितना पढ़े भी जाइयो नाम भी ले जाइयो धर्म भी करते रहियो फोल नहीं होना जैसे कल बताया था कि चौसठ लाख से फोल हो गए फिर वो भक्ति भी करते रहे अपनी जान में तो पर किसी को रास्ता उस दिन में नहीं मिला तो इस प्रकार हमने अपनी मर्यादा बनानी है और यह कति भूल भुलैया इस काल में हमारे ऊपर साथ कर आखिर चौड़ी दिख है आज मैं अपने बच्चा ने खूब प्यारा समझू शरीर मत कोई सा भी जा सके मैं भी जा सकू तो मेरा कहां था ये यह भूल नहीं था केस है ये सिंहपुरा गांव है इसमें हम एक सत्संग में चले गए जो शुरू शुरू मैंने शुरू किया था जाया करता वैसे सुन का था चाह चढ़िया करता न्यू किता मन बेरा था ये सत्संग के उसे लगा लगा था एक भगत है वहां का उसके वहां से लगा और उसकी वो वहां का छोरी का छोरा से वो तरह वृद्धि वो साठ पैंसठ साल का तो वो एक बुढ़ी आ रही थी उसके बारे में बताओ था ने बोला जी सच नो के न दुख साढ़ या नो बोलिया कि पहला जिसके ब्याई गई थी वह दो भाई थे पहले का एक बच्चा होया वो बडला मर गया भाई इशारा पति मर गया दूसरे के ब्याह दी पल्ला दी उसका एक बच्चा होने वो भी मर गया वह दोनों मर गए यानी उन एक एक बच्चा था फिर भी जवान थी क्यों बचपन में शादी कराया करते पीतसरे का लड़का था उसका व्याधि उसके दो हुए वो भी मर गया अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि कड़े ते में याद आवा इस दुख की और फिर भी आसरा और का तक का बैठ जाते तो यहां बंदी छोड़ के कैसे देखो रे लोगो भूलै भोलैया का तमाशा देखो रे लोगो भूल भोलैया भाई बालापण में ज्ञान नहीं था जवानी में ओडा खसा रे बालापण में ज्ञान जवानी में ओढ़ा काल बलि का लगा जपेटा तेरे ओई सांस न सांसा देखो रे लोगो बोल तमाशा देखो रे लोगो भूल भ जीव इतण माता रोव बैण रोव दस मासा रे जीव इतण माता रो बैण रोव दस मासा तेरा जन तेरी तरिया रोव खेर कर दरवासा देखो देखो रे लोगो भूला भूलैया का बुझा पकड़ तेरा भाई रो वैसे पकड़ तेरी माता रे बुझा पकड़ तेरा भाई शेष पकड़ तेरी माता चरण चपट तेरी तरिया रो तोड़ चला क्यों नाता देखो रे लोगों गुल देखो रे लोगो भूल भूलैया जोड़ी तक तेरी तरिया का नाता फड़ से तक तेरी माता हमारे जोड़ी तक तेरी तरिया का नाता हर से तक तेरी माता मरकट लग ये लोग नगर के फिर हंस अकेला जाता देखो रे लोगो बोल हाँ, देखो आड जल जो करी रे केस जल जो गासा आड जो लाहकड़ी रे केस जल जो कंचन जैसी काया जड़गी कोयन आया पासा देखो रे लो तमाशा देखो रे लोगो बोला क्या तेरा सारा रह गया जिसकी लार था आशा सारे दया ढका रह गया जिसकी लार था आशा कह कबीर सुनो भाई तो ये दुनिया का रासा देखो रे लोगों का तमाशा देखो रे लोगो सत्साही ये भाई सत्संग उस अब्राहम सुल्तानी अधम नाम के राजा ने सुना अब उसकी तो नींद बंद होगी कि यह कौन बनी आज ताई तम तो इस राज ने सब कुछ मान रहा था रावण के साथ मेरी तक कुछ मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाला राजा समझता था और ये दोष है इसे इसे चले गए कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी महाराज की वाणी माता है कि पृथ्वी पति चकवे गए चकवे कहें चक्रवर्ती राजा और जिनके चकर चलंत ब रावण के कौन गणेश तनु का तेरा भी के बनेगा और फिर पशु बनना तो भाई उसने सोची इन भक्तों संतों के पास भाई मार्ग भी होगा इस दुख से बचाने का नीचे आ जाता है सवेरा हो गया तो अपने सिपाहियां थे तो राजा ने बोला भाई इन भक्तान बुला के ला संतान सारा अन्यों कह दियो राजा के घर में आपका सत्संग है और भोजन है अब जो ही उनको ये ज्ञान होया कि भाई राजा बुलावा है अन्यों का सत्संग है और भोजन से तो उनमें जो समझदार सा संस्था ने बोला भाई राजा का सत्संग का कोई मेड़ नहीं बिरा इसका पड़ोस में घर था और भाई आवाज गई कदे इससे करके काल पा गया और हमने सारा नंदर ठोक दे कितके फूडे खोआवागा परंतु ये बैराजा का बुलावा टाड़ कैसे करें चालना तो पड़ेगा चले गई राजा बैठा सिंहासन पर आओ भक्तजनों आओ संत जनो अकाई महाराज बैठो बैठ गए कि आपकी रात की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे तो इतना मतलब आनंद आया कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि परमात्मा के दर्शन हो तो बोला जी ठीक है हम बता देंगे पहले तो ये बताओ कि आपने भगवान पाया कि नहीं पाया अल्लाह खुदा और आपने पाया है तो मन भी दिखाओ जब मैं मानू इबन बोले भाई पंगा पै गया इन क्यों कर बतावा भाई हमने पा भी रहा था इन्हें दिखावा क्यों कर वो तो हमने देख सका है पर राजा का काम बात तो बिगड़ गई तो कहने लगे जी ऐसा है कि परमात्मा के नाम का अभ्यास किया जाता है उसको पाने की विधि बता सकते हैं ने बोला तुम झूठी चालती करो हो बात मुझे यथार्थ बताओ तो कहने लगा जी एक दूध का गिलास ला दो बहुत मीठा करके बहुत अच्छा सुथरा दूध ला करके सवच उस संत को दे दिया दोनों का था दूध लाओ उस दूध में आंगली देर न्यू का है उंगली देर न्यू देख राजा कहने लगे अब्राहिम के इसमें दूध में मीठा डाल रखा है और आप चिंता मत करो आप पी लीजिए निश्चिंत होकर के वो कहने लगा संत के महाराज मैं नो देखू सू के दूध में घी बताया करें पर थारे दूध में घी ना दिखता मैंने तो वो बड़ा हसा राजा पहला तो देख मूर्ख इसने नोबिना बिरा दूध से घी कैसे बनता है यो कितके राम रहा होगा अल्लाह पाई होगी तो कहने लगा रहा भले पुरुष तने नो भी नहीं जान कि इस दूध तेजी घी ऊपर बना मैं बताऊं अगली बताओ कि पहले इसको गर्म किया जा फिर ठंडा करके जमाया जा थोड़ा थोड़ा हा गर्म रह जा जो जामन लाया जा और फिर इसको बिलोया जा तो दही बन जाए और उसके बाद मक्खन लकड़ेगा मक्खन को ताकर शुद्ध घी बनता है समझा तक हमारा समझ गया इसी प्रकार इस परमात्मा इस काया के अंदर है इसको मथने की जमाने की बिलौन की विधि मैं बताऊंगा आप करके देखिए राम में लगा गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब हार्ड चाम की देह में और अमृत दूध सर्वंत गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे है भगवंत जैसे गऊ में दूध होश है और जब तक वह नए दूध नहीं हो लेंदी तो इसने दूधी ने चीर के जय को टो है दूध गरीबदास उस घट पिंड में हार्ड चाम और गूद गूद के हैं गुदा ये मतलब गुद्दा यानी मांस ये तीन चीज पाऊंगी लहू मांस गुद्दा और चाम और कुछ नहीं और वाहे गऊ जब नए दूध हो जैसे ब्यावेगी बच्चा जब हो जाएगा जब तो बाल्टी ठोकेगी और उस समय मत निकला कर यही प्रक्रिया है हम बतावेंगे आपको नाम देंगे उस नाम का आप जाप कीजिए समय आने पर इससे तेरे शरीर में तो राम प्रगट होगा न वैसे ना हो बीरा नो बोला अच्छा तो तो मेरी बात का प्रति उत्तर दिया तने यथा यानी काली राजा महंकार बहुत होश है दूसरे की सुन नहीं सकता तो मेरे आगे बोलकर सब आम बेचती ने बोला तेरे पास कुछ नहीं तो बकवास करता इसको सारे इसके चेला ने और इसने चाकी पीसण ला दो अब चाकी पीसण ला दिए राजा का भाई किम्य करो कि उसकी बात से दो दिन का राजा है या नई को बजौर कुमारी संता को दुखाउन का अब वो सारे चाकी का लाग गया और गेले नो भी दुख पावे है कि परमात्मा जब तेरे नाम में दुख है दुख ये सतगुरु थारे नाम में दुख है दुख कुछ तो दया करो तो बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक तक आवे आकर के सबसे पहले एक रबारी का रूप बनाया सतलोक से प्रगट होकर कई इस बात नान नहीं मानते कि ऐसा भगवान नहीं कर सकता जो न्यो कह भगवान न्यो नहीं कर सकता वो भगवान से परिचित नहीं है उसकी शक्ति को वो नहीं जानते वो के, के काम करा करें आकर राजा के महल में चला ऊपर छात पर चला गया छत पर जहां राजा का रहने का अपना मकान यानी सिंहासन पर राजा बैठा था उसकी छात पर ऊपर तक खोद मारे आवाज हुई राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ ऊपर कौन हराम ज्यादा उसकी बदतमीजी कर रहा ऊपर से आवाज आ रही एकदम जाकर देखे हैं कि एक बुढ़ा सा रबारी हाथ में लाठा लांबी सी टांग लांडी सी लंगोटी और बड़ा बंडासा यानी साफा आके खड़ा हो गया कौन आ रहा तू अगजी मैं मेरा ऊंट खो रहा सा महाराज फिर ऊंट छाछ पर के रहा था मैं देखू था कदे छाछ पर बैठा हो <laughs> अच्छा बेवकूफ रहे तो ऊंट कार पहले तो ऊंट छाछ पर चढ़ नहीं सकता ऊंट कार छाछ पर के काम बदतमीज की तबार तो ढूंढ जंगल में पा कर ऊंटता तो बंदी छोड़ना डला बोले बेटा भगवान भी इस राजगद्दी पर ना पावे वो कितना संता में ढूंढ जाकर उड़न लगा नो कह कर अंतर ध्यान हो गए अब राजा गए चली कांपणी का आज मर जा भाई यू के आया रानी बुलाई पटरानी बुलाई रोर बुलाए भाई के हो गया मेरी गेला यू कांपण लाग रहा राजा बैठा बैठा सारा तो रानी बोली अकद यू राज छोड़ जा मंत्रियां के कान में फूक मार दी इसका तबीज बंधवा दो मौलवी बनवा के मौलवी बुलवा लिया उसके एक तबीज बांध दिया इस हाथ के वो बोला जी बसीब को दिखे ये हो जा कई वैसा जो ना चेटक सा हो जाता है जो वैसे ऊपरी हवाएं थी आप कई नजदीक नहीं आओगे निश्चिंत तो होया कुछ दिना के बाद बंदी छोड़ एक जोटे पर बैठ कर गई जोटा ले रहे और उसको ऊपर बैठे उसने बोला रहा यू भीतरे क्यों कर ले आओ रोटे में वो न दिखा निर्मा उस उसने दिखे यू खड़े सामने फिर वो जो भीतर आ लिया ना उन्हें बोला के करण आया तू आड़ है राजा ने सोचे दान पड़े में आ गया होगा नो बोला मैं नो बताना आया सू भगवान किसा उस है अल्लाह किसने कैसे अब तो बताओगा कहा मैं बताऊंगा अग बता अग मैं पाछे बताऊंगा पहला जोटा राम तू बता दे जो टेका कृपा हमार दी बेटा बता इसने राम की सा अल्लाह कौन से तो जोटा ने बोला मेरे ऊपर बैठा यू अल्लाह है यो खुदा है ये परमात्मा होंगे परमात्मा बाकी भगत जी तरह दचो तो चाहे ना दचो एक जोटा बोलता दिखा जब उसकी पिंडी कांप है यो अच्छा पंगा होया बंदी छोड़ अंतर ध्यान अब वो रोटी छोड़ दी फिर कट्ठे हो गए अपनी कथा बताई कि नो दिखा मना इस इस बांक और बंधवा दिया एक तबीज कि ईद कती नहीं दिखे तो ये पाखंड जो है ना ये तो पूरी शक्ति का काम नहीं किया करते अगले दिन के क्या बंदी छोड़ने एक राह चालते अतिथि काशिद का रूप बनाया और जाकर राजा सिंह आसन में बैठा था पांच सात दस दिन का गोता देकर बीच में फैसला दे करके गए नो बोले भाई राजा करे सरा आड़े सराय सराय कहते ना सराय को धर्मशाला जिसमें अतिथि रुख्या करें न बोले भाई स्त्री सराय में एक कमरा चाहिए रात काटन में आजाद रटूंगा इसका किराया बता दे जो करणपट बोला करें नो ठाडो ठाडो से राजा बोला तेरा दिमाग खराब है ये ये राजमहल है राजमहल उन्हें सोची बोला बड़ा आदमी से वो गलती से आ रहा ने बोला ये धर्मशाला नहीं है सराय नहीं है ये राजा का राजमहल है उन्हें बोला इससे तो पहला कौन था तेरे से तो पहले कौन था इसमें मेरे से तो पहला अकाछा बोला से मेरे से पहला मेरे पूर्वज होंगे इसमें और कौन होता और उन तो पहला कौन था उनके पिता उन तो पहला उनके पिता कित गए वह सारे तो, अल्लाह खुदा को प्यारे हुए तू बेटा कह दिन रहेगा इसमें जब अपना नंबर आवे नंबर का वो तो अच्छे साबित काम मर जाओ पर अपना नंबर आ जब गिगी बंदा है बोला हाँ जाना तो बनना भी पड़ेगा फिर तो इसने सरा नहीं तो उल्लू के पट्टे इसने राज भी सम, राजमहल समझा है अपना काम बना दो दिन का है ना कित जूता कट्टेगा गदा बन कह महाराज अंतर ध्यान हो गए और राजा तो सिंहासन तला गदा का उठा बेहोश हो जाता ये यथार्थ बातें हैं अब वजीर बाजे सारे बाजे वैद बुलाए जड़ी सुंगाई होश में आ गया तन बोला की बात होगी अकनूर नो बात कर गया आज फिर एक और आया था क्यों रूप बदल का बंदी छोड़ पहचान मान दे नहीं फिर गड़ में बंधवा दिया ईसा मोटा ने बोला ईब कती नहीं आंदा ने बोला इतना मैं मरे लूंगा थारा ऊपर बंद होगा इतना यानी काफी दिन फिर क्या किया बंदी छोड़ वहां से अंतर ध्यान होकर और जहां वो कैद कर रखे थे ना चाकी पीछे थे महात्मा वहां जा पहुंचे और नो बोले भाई तो क्यों कराया सिपाहिया सिपाही बोले अकबर मेरी भी सजा सुना दी अकाजा था भीतर ने अगी सब बड़ी आदमी हमने ये देखा जो आप प्राण लाग रहा भीतर भाई वो तो सिपाही पकड़ के ले आकर अकबर देखिए एक बात से कि कि मैं बात सुन दे कि हम एक काम करांगे ना हड़ताल कर देंगे के चाहे तो भाई चाकी पिसवा लो और चाहे गला गेर दो एक काम करो तुम तो। जो बोले वह बढ़िया से भी बाम तद गड़ा घेर देंगे तुम पीसो सिपाहिया ने सबसे आसान काम ढूंढ लिया कि हम चाकी पीसांगे तुम पीसो और हम गड़ा गेर दे रहे तो कबीर साहब अपनी एक लाठी ले रहे थे डोगा सा एक चाकी का ला दिया वह घी बंद तीन सौ साठ चाकियां की नो और वह महात्मा ने बोला जाओ वह अपना घूम कहा सही तुम वहां से अंतर गहन कर दिए सारे के सारे बोला आंखें बंद करो आंखें बंद करी तो थोड़ी देर में वहां थे नहीं सारे पार और चाकिया की घी घी बंद रही और वो सिपाही भाजे गए बेला जी उड़ा कराना के चल रहा पाप अब वो बादशाह आया जी आके देखा साचे बादशाह भी गदा का उठा भाई यू तो भूडा पंगा देखा फिर पकड़ के ले गए अब चाकी बंद होगी उन्हें सोची कौन आया था अगदी ऐसे ऐसे था एक रबारी सदरा चलता है दिखा था कोई था भाई अरुण उन्हें भी ले गया ले गया उन्हें भी अब उसने सोची भाई बड़ा पंगा होया फिर राजा की मतलब उन मंत्रिया ने एक समारोह बना दिया बनाया नाचने का गाने का ढोल बजाने का उसको मन रजाने के लिए पंद्रह दिन तक वो फिर बोल पड़गी फिर उसके मन में आया कि आज हम वहां जाते हैं शिकार खेलन खातर मंत्रिया ने तैयारी करी कि राजा भूल पड़ जाएगी शिकार खेला होगा जो बोले महाराज जो घना पड़े पड़े चिंता से की बने थे चलो शिकार खेलने चलते राजा की मन में आगी चल घूम आओगे और सा मन हो जाएगा चल पड़े जी घोड़ा लेकर सारे जंगल में घूम लिए कोई शिकार नहीं मिला दो फारी होगी तो राजा फिर ने बोला भाई जय राजा बिना शिकार करे वापस जा तो उसकी तोहीन होती है इतने में एक मर्ग आ गया कूदता हुआ राजा ने बोला बस जिसके घोड़े तोरे का लकड़ गया उस तन ले लूंगा और खबरदार होगा इसको शिकार को करना वो परमात्मा बंगी छोड़ की रजा थी माया वही था वो हिरण और उस घोड़े का नीचे का राजा के घोड़े का तले का लकड़ गया कभी और किसी दुखी ना करे और खकाट उठा राजा शर्मानता उसके गे लोले से कहो किसने बहुत दूर निकल गया वहां जाकर मर्ग तो अंतर्ध्यान हुआ प्यास लागे प्यास लग आई और मरण न हो गया कि घोड़ा भी मरे जगूड आ और हम भी मरेंगे ऐसी हालत में हम हो चुके थे तो पानी की तलाश करी कि अगर 10 मिनट भी पानी नहीं मिल जल नहीं मिलता है तो हम समाप्त हो सकता हूं सामने बंदी छोड़ कबीर साहब ने के खेल खेला एक सुंदर बगीचे एक तालाब एक कुआ उसमें बनाया और एक साधु का रूप बनाकर जिंदा बाबा जो मुसलमान होते हैं और तीन कुत्ते अच्छे बढ़िया बढ़िया कुत्ते जो होते ना सुंदर सुंदर वो बांध लिए बेल के और नो बांध रखे खुटिया के अपने पास में अरे खाली बेल ले रहा कुत्ते बांधन की और इतनी दूर का लकीर काट रखी बैठनी है उड़े बैठो अब राजा ने पानी की आंसू ही जल पिया घोड़े को पाया घोड़ा वृक्ष के बांध के और सोचा इस बाबा जी पर कुत्ते ले चालू तो बहुत बढ़िया कुत्ते ले रहा से केक रहेगा ये हजार दो हजार रुपये ले लेगा इनके और केक रहेगा जाकर ने बोला जिंदा जी नमस्कार सलाम वालेकम सलाम वालेकम वालेकम सलाम के मुझे एक कुत्ता का केक रहेगा तू इन दो दे देना मेरे ताई ने बोला बस देता तो दू ये जो कुत्ते हैं ना ये बलख बुखाराबाद सहका का एक था दादा एक परदादा अरे एक उसका सरदादा यानी तीनों उसके बाप दादा परदादा से और या पांच खाली बेल ले रहा हूं ना खाली बेल या उस आरामजादे खातर ले रहा हूं जो बादशाह बैठा है ना गद्दी पे उसने इस तबाह तो दूंगा कुत्ता बनेगा ईब तब तो मौज में घूम रहा था उसने बताया नहीं किसी ने कुछ भी इतनी सुनकर उसकी तय तो घी घी बंद की और उन कुत्तिया का महाराज ने साकड़ मारा से ने बोला फिर उसने नो संवारूंगा मेरे सुस्त पहला उनका आगे उधर रखे मतलब किसमिस का हलवा बंदी छोड़ने और वह मुंह नहीं लावे कुत्ते और कहा खा इसने और ना खाओ तो बोलूंगा नो मार मरे बच्चे तुमने खूब खा रखे हैं जब है राम नाम नहीं लिया दिबागी ना छात अल्लाह नहीं भजा इतनी वो सुने गया और उसका कांपड़ी चढ़ गई अकियो बूढ़ी बनी ने बोला ये तेरे बाप दादा हैं भाई अरे ने बड़ी बद फैल कमाई बड़ी कुबद कमाई अरे तो तकत बैठ कर भूली तेरा मन चढ़ने ने पर जिंदा गैब भया रे हमने कुछ ना भेद लिया एकदम अंतर ध्यान हो गया अरे पड़ा पड़ा रोवा घड़ी आनती रो कर फिर वहां से चल पड़ता है काज तो भाई बात कती बिगड़ गई और देखा है ना वहां बगीचा है ना पानी और पानी पी रखा घोड़ा गोड्या तई पानी में धस रहा अब इस अजीब लीला ने देख कर राजा मुंह लटका कर घर आकर बैठ जा फिर बताते हैं कि ईब और तवीज लियाओ के मैं रह रहे हूं तो आज मेरे साथ नोर नो बनी से मंत्री सोचे भाई बड़ा पंगा होया को लोगाई लोग हम सुना कर दे भूत आवा ही राजा ने भूत दिखन लाग रहे पर भूत थोड़ा ही था वो वो तो परमात्मा था तो जब भूत दिख सके भगवान ने दिख दे क्या लागे भाई कोई आठ नहीं लागती तो के हुआ राजा बैठा भाई मजूर खुड़े चौकर तो दे के रानी समझावे ने बोले जी आप तो बावड़े हो गए आदमी होकर जनानिया किसी बात करो हिम्मत करो ढोला बोला कर ली हिम्मत मतलब जितनी करनी थी मेरे बस की ना तो हिम्मत रह रही तरना यू राज करने जी करता भाई छोरे और ना अपने लड़के ने बुला के बड्डे थे अग बेटा इस संभाल तेरे ढमढमे ने मेरा बस का नहीं वो जाजा ने बोले जी बाल वजीर कहने लगे बच्चा है नू सब भाई कुछ भी इतने में एक कुत्ता आवा है जिसके शर्म में कीड़े पड़े हुए जख्म हो रहा आके उसके गोड्डा मनु चरणा में पादर कहने बोला अब्राहिम अरनू देखे ना कुत्ता बोला है सारे खड़े खड़े देखे कि मैं फलानी स्टेट नगरी का राजा था और यू मेरा नाम था बीरा और मैंने जितने को बद करी ये देख मेरे आगारी से जब बच्चा दांदा होना तो मौका है स्ट्राइक तेरे को शोधन से जो तेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही और कर जाड़त कुला तो उल्टा डांक मारी नहीं कुत्ता किसी के तब राजा ने बोला सबने भी भूत दिखने लग गए जब तब मुन्ने मुन्ने दिखे थे ये क्या चीज थी ये बताओ मुझे अब के जवाब दे राजा रात ने कहे निकल गया छोड़कर राज्य को और बाहर चला जाता है एक कांबड़ की अल्फी बना ली नो बांध करे नो बांध लिया करें और एक साल पाड़ कर उसकी लंगोटी बना ली चल पड़ा और काला मुंह कर लिया कि देखो पिछाड़ना ना ले क्यों राजा उसने बहुत आगे बहुत लंबी कहानी से पर हम यही इतनी तक बताओगे तो इस प्रकार जब हमने सत्संग की जानकारी हो जाएगी कि भैया या दुख हमारे गिला बीतेंगे तो तब हम भक्ति कर पाएंगे और भक्तन करना रू भी करेगी तो अब हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे यथार्थ झूठ नहीं होगी इसमें झूठ माननीय बेसिक मानो फिर इन शास्त्रों को मिलाना आप जो बाकी के हैं कि ये कहां तक सत्य तो इस प्रकार अब हम आपको सृष्टि रचना बतावेंगे जैसा कि कोई तक तो तो है विष्णु तय ब्रह्मा बना और शंकर बने कोई शास्त्र कहता शंकर भगवान से ब्रह्मा हुए और विष्णु हुए कोई किसी से मानता है बंदी छोड़ ज्यो की तो आपको बताएंगे कि सृष्टि कैसे रची गई और जब तक हमारे मन में या नहीं बैठ लेगी कि ये जो बताई गई सृष्टि रचना सत्य है तब तक हम नहीं मान सकते इस सारे ज्ञान में उड़ज के और क्या नाम है नास्तिक हो सकते हैं और जब ये ज्ञान सुनोगे आप पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य की सौ की सौ सत्य है एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी तो पूछा था कि महाराज जब कुछ भी नहीं था जब आप कहां थे आप बताए हो कि पहले यहां कुछ भी नहीं था बाद में ये सृष्टि रची गई कौन इसका रचयिता है तो महाराज ने आरती में कहा है कि अदली आरती अदल पठाऊं युगा युगा का लेखा लाऊं आप रोज पढ़ते हो जादिन ना थे पिंड नहीं प्राणा नहीं पानी पवन जमी असमाना कच्छ मच कूरम ना काया और चंद सूरज दीप बनाया शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा और नारद सारद ना विश्वकर्मा ये सिद्ध चौरासी ना तेतीसो नौ अवतार नहीं चौबीसो पांच तत्व ना ही गुण तीना नाद बिंद ना ही गठसीना चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी और राय ना पंडित काजी दो दो कार अनंत युग बीते भाई दिन कागज कहो किन फिर महाराज से पूछा आप कहा थे जा दिन थे हम तख्त खवासा तन के पाजी सेवक दासा संख युगन पर लो परवाना हम सतपुरुष के संग रहना दास गरीब कबीर का चेहरा सतलोक मरा मरापुर डेरा अब सतलोक के बारे में जानकारी शुरू होगी उसके बाद नीचे न चलेंगे एक भक्त पूछता है अपने जगह भगत पूछता है अपने गुरु भगत से जो कबीर साहब का शिष्य है यानी बंदी छोड़ गरीबदास जियों का उससे वो पूछता है कि भाई यह सृष्टि फिर सही के उपकर माना कौन से की माना भाई विष्णु पुराण कुछ कहे और शंकर पुराण कुछ कहे शिव पुराण और भाई ब्रह्म पुराण जो का मैं ब्रह्म परमात्मा और भाई फिर इनकी कमियां का नरे गिनती कर रखी के ब्रह्मा पुत्री देख कर हो गया डामा डोल तो इसने भगवान के ऊपर माना फिर शंकर भगवान की बताओ एक सुंदर लड़की ने देख का अपनी पत्नी इतनी सुंदर पार्वती ने छोड़ का भाज गया ये भी शास्त्र चरित्र बताने लाग रहे जीवन त्रित्री के और भाई भस्मासुर ने जब कड़ा लेकर भाजा उसका आगे भाज लिए और विष्णु भगवान ने वीरभद्र ने मार गिरा वो भाज गया छोड़कर उस शिव जी के गणना और फिर कहते एक रास्ता से ऐसा था कि किसी से भी काबू में नहीं आया ना धर्मा का ना संकृतियां का ना तैतीस करोड़ देवताओं का विष्णु जी बुलाया विष्णु जी ने बोले जी वो राक्षस नहीं मरता विष्णु जी ने भी तने तोड़ा लिए राक्षस नहीं मरिया फिर एक ज्योतिषी से पूछा कि इसकी पत्नी वर्ता है जब तक वह उसका धर्म भंग नहीं हो लेगा इतने इसमें कोई नहीं मार सकता विष्णु जी ने राक्षस का रूप बनाया उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट किया और फिर वो मरिया तो जगासु भगत ने कहा भाई भगवान नाली बात तना लाग तीन में बंदी छोड़ने को ना भाई तीन लोक के परमात्मा के ये गुण से तीन लोक कहते ये जो के तो, तो सच से पर आगे चले किसी को फेल करना हमारे बस की बात नहीं है और ना कर सकते अब जो गुण जितनी शक्ति एसपी में डीसी में है उसने हमारे कैद के वह कम हो से पर उनके आचरण किसे हो वो उनके ऊपर है पर शक्ति फिर भी उनमें जो की तो है पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं माने जा सकते तो यहां बताया गुरु भगत पूछता है जिज्ञासु भगत पूछता है कृपा करके आगे बताओ कैसे यह सृष्टि बनी भाई मेरा मन बहुत उतावड़ा हो रहा है गुरु भगत बोला भाई तेरा बहुत अच्छा भाग है किस्मत है तेरी जो कि इस तरफ इतना आकर्षक तो होया वरना इस बात ने कोई पूछनिया भी ना मिलता सुनकर भी खुश नहीं है सृष्टि की रचना पहले सतपुरुष अकेला था फिर उसने अपनी वहां सतलोक की सृष्टि रची सतलोक की जो कभी खत्म नहीं होती वो लोक है ना प्रलय में ना महाप्रलय में वो एक से अनेक हुआ अपनी इच्छा से और अपने कहते हैं उन्होंने सत्रह शब्द उच्चारण किए पहले शब्द में सब दीप और लोक वहां सतलोक में भी नारे नारे अलग अलग खंड हैं वो रच दिए पहले शब्द से उन्होंने दीप लोक आदि रच दिए दूसरे शब्द से सतलोक में एक कूर्म नाम का संत है जो सतपुरुष का पुत्र कहो शब्द से उत्पन्न हुआ तीसरे शब्द से ज्ञानी चौथे शब्द से विवेक पांचवें शब्द से तेज छठे शब्द से सहज और सातवें शब्द से संतोष आठवें से सुरत नौवें से आनंद दसवें से अक्षमा ग्यारहवें से निष्काम बारहवें से जलरंगी तेरहवें से अचिंत चौदहवें से प्रेम पंद्रहवें शब्द से दयाल और सोलहवें से धैर्य ये नाम है वहां के पुत्रों के जो सतलोक की सृष्टि में बड़े बड़े लोकों के मालिक से जो कि कभी नष्ट नहीं होता और उस उन लोकों में यहाँ से मुक्त किए हुए जीव ठाट से रहते हैं उनको कोई प्यास नहीं कोई भूख नहीं गर्मी नहीं सर्दी नहीं और अमृत आहार करते हैं सत्र में सबक से योग संतायन ये भी पुत्र है उनका इस प्रकार सत पुरुष ने सत्रह शब्द उच्चारे जिसमें सोलह शब्दों से सोलह सुत यानी पुत्र तथा एक शब्द से सब दीप व लोक मान सरोवर आदि रचे सोलह पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी सब पुत्रों ने अपने अपने दीप में आनंद से रहने लगे फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा यानी सतलोक के अंदर जो जीव प्रक्रिया तैयार करनी थी वो अचिंत को दी अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई अक्षर ने चार अंश उत्पन्न किए इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित आनंदित हुआ इसी आनंद से निंद्रा आई तथा सत्तर युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई यानी जल में जाकर के सो जाता है तो चारों अंशों ने समाधि लगाई सतपुरुष से पूछा कि अक्सर पुरुष तो निंद्रा में है सृष्टि कैसे रची जाए तब सतपुरुष सतगुरु सतपुरुष ने अवगत किया एक अचंबा किया कि जल तत्व से एक अंडा जल भी जल में गिराया जहां पर अचिंत सो रहा था अक्सर पुरुष सो रहा था उसकी आवाज से गड़गड़ाहट से अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई वह उस अंडे के पास गया क्रोधित होकर देखा तो वो अंडा फूट गया और वो तेज उसका क्रोध जो सूत्या उठा कर काची नींद में वो तेज उसमें प्रवेश कर गया अंडे में से उत्पन्न हुए व्यक्ति में उस क्रोध से तेज से अंडा फूट गया फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई अब ये ध्यान से सुनना कि अचिंत पुरुष अक्षर पुरुष से कि क्रोध से तेज से अंडा फूट गया अंडा उस तेज में प्रवेश तेज उस अंडे में प्रवेश किया अंडे में तन निरंजन की उत्पत्ति हुई जिसको ब्रह्म कहते हैं अब निरंजन से आगे सारा खेल शुरू होता ये मुख्य पात्र है इस सृष्टि का इस रचना का निरंजन की उत्पत्ति हुई अर्थात अंड से निरंजन निकला है तब निरंजन को मान सरोवर दीप दिया गया जो कि सतलोक में है वहां आनंद से रहने लगा तब कुछ युगों बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए ये कम स्थान है कुछ और प्राप्त करना चाहिए इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर ज्योत निरंजन ने सत्तर युग तप किया तब सतपुरुष ने सहज नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो ये के चाहिए उसने हमारी सत्तर युग तप करके सेवा की और तप से राज दिया जाता है तब सहज ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और राज्य चाहिए ये जगह मेरे लिए थोड़ी है तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर उसे तीन लोक दे दिए ये तीन लोक वहीं रहने थे सतलोक में तीन लोक दे दिए और 21 ब्रह्मंड तक का राज्य उसको प्रदान कर दिया तीन लोक तथा तो 21 ब्रह्मंड का राज्य दिया निरंजन बहुत खुश हुआ कुछ समय के पश्चात निरंजन विचार आया क्यों ना अपना अलग राज्य स्थापित किया जाए यही विचार करके सत्तर युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने तप किया कबीर साहब के सामने सतपुरुष के सामने खड़ा होकर तप किया तब सतपुरुष ने फिर सहज को भेजकर पूछा कि भाई निरंजन ईब के चावस है अब तो उसको तीन लोग तथा तो इक्कीस ब्रह्म तई का राज दे रखा है सहज के पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं अलग राज्य करना चाहता हूं कृपा मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ इसलिए मुझे कृथार्थ करो मैं आपका बहुत आभारी हूंगा सहज ने सतपुरुष को सारा वृंतांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचन की सामग्री यानी अपने 21 ब्रह्मंड से तीन लोग ते नारी और जो रचनी थी इसने ये कृत और सारा सौदा तारे तूरे पांच तत्व वगैरह तो वो सामग्री कूरम आपके बड़े भाई के पास है कूरम कछुआ नहीं है वहां पर उसका नाम कूरम है संत का कूरम के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करें तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी और कलेश नहीं रहेगा दुख दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा अकाल मृत्यु नहीं होया करेगी जब आदिनी से सृष्टि रचन की सामग्री ले आओगा तो परंतु निरंजन ने जाकर कुरम से बेअदबी करी और उससे उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतार कर इस प्रकार तीन मुकुट उतारे जब वो वहां पहुंचा कोरम के पास कुरम कहने लग गया भाई की आया निरंजन बोला कि मैंने सामग्री चाहिए सृष्टि रचन की अब किसने बताई सतपुरुष ने पिताजिया ने अब तेरे पास सामग्री है बिल्कुल से पर दूंगा जब जब सतपुरुष तब मैं पूछ लूंगा यह बहुत अनमोल चीज से भाई तेरे कहते नहीं देता अब निरंजन का उठा छो अब मैंने बेकूफ समझा है तुम अब बेकूफ कते नहीं समझता क्योंकि इसमें गुस्सा है वो सतोगुणी है बोला मैं एक बार महाराष्ट्र टेलीफोन कर लू पिताजी आते हैं फिर तक तो मैं ले जी मेरी आत्मा खुश हो जाएगी वो समाधि लाकर संत अपनी बात करने की खातिर आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर तार जोड़ना चाहता था टेलीफोन करना करा कर संत लेकिन निरंजन ने निस्वा के घंटा लाओगा पकड़ कर उसके न्यू मुकट और न्यू कर दिया वो मुकट आत्मा आ गया अब तो मेरी बात सुन कह तू तो था और मुकट आत्मा आ गया उस मुकट में से ये नौ लाख तारे पांच तत्व और नौ ग्रह ये सब आप अपने स्थान पर घूमने शुरू हो गए जितने भी इसमें ये सब को बाढ़ भर रखा सब आप अपने स्थान पर शुरू इतने बड़े बड़े लकड़ी उसके बाद अब सुनियो आपका मन में बहम होगा कि साके मुकुट हो गया इतने बड़े बड़े कुबाड़ सूरज केसी भी उसके माए छिप रहे थे अब यथार्थ बताएंगे आपको यकीन होगा तो क्या हुआ तीन मुकुट उतारे तीनों में इस प्रकार ये सब वस्तु निकल आई चांद सूरज वगैरह सब कुछ 21 ब्रह्मण तक की जो सामग्री है उसको प्राप्त हुई मैं दो रची हुई रचना है तो फिर और चला गया वो तो क्यों तो उसका काम बन गया तो पूर्व ने फिर शिकायत करी कि महाराज निरंजन आया था और मैं आपसे बात करूं था जबरदस्ती सामग्री ले गया जो बोला उसके राज में कलेश रहेगा कोई जीव सुखी नहीं रहेगा उसके पास और वो चैन तो नहीं सो सकेगा कोई बात ना वो अपनी करनी आप भोगगा और नो बोला मैं उसने जीत मारूंगा कूरम कहने लगे अग्ना भाई संत ऐसा नहीं कराया करते अपनी करनी आप पाओगा कूरम निरंजन से कई गुना शक्तिशाली है महाराज की बात से सतपुरुष की बात से यकीन करके चुप हो गया शांति पाई अब नरेंद्र ने चौसठ युग हाँ अब आपके मन में ये आवेगी कि इसे बड़े बड़े ये राज उसके शर्म में मुकुट के हो गया उधर चाड़ा था भाई जो सूर्यताएं धरे थे अब ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार बड़के बीज में बरमंटे में हजारा होश है क्योंकि बीज से बड़ बने बीज रूप में उसमें हजार बड़स है और को बड़ दिखा कर नौका देख इस बड़ में ये इसे इसे बड़ जो की दो किला में का फैल रहा हो बट और उसने नो कह दे इस बड़ इस बीज इस ब्रमंटे में इस फल में ये एक हजार से पर मूर्खता मानना नहीं और जिसने नो पता कहा वह बीज ते हो सो तो बड़ बड़ कहो चाहे बीज कहो क्यों बीज बिना बड़ नहीं बने तो बीज रूप में यह सारी सृष्टि कूर्म के पास इतने स्थान पर दरी थी इतना सूक्ष्म बीज ऐसा पांच तत्व का तो यह बात यकीन आई उसके बाद चौसठ युग फिर तप करे इसलिए कि मैंने जीव चाहिए बीच में अब बच्चा बहस कर कई बार जद पकड़ दे है मैं साइकिल लूंगा साइकिल ले दे भाई तू बालक से कि टांग तोड़ा लेगा रेण दे रोन लाग जा रोटी छोड़ दे बेगन कर दे घर के न सोच मरण दे सुसरंग ने दो ने साइकिल ले आके दे दिया सियाणा हो जाएगा जब नौका कॉलेज में जान लगा मैं तो मोटरसाइकिल लूंगा इब घर के सोचे यू कि मरेगा जीते साइकिल पर तो बच्चे जाओ इब कति नहीं मर पर नो रोन पीटन लाग जाए इकला बच्चा हो यानी कैसा भी हो तो माँ बाप के दया आया करे नु सोचे रहे चल लिया दे देखी जागी फिर और जद लाना सोचेगा तो नो सोची भी इसका ब्याह कर दे यू को कर्मी ना तो पढ़े मोटरसाइकिल वाला कदे पढ़ा करे सब कॉलेज में जानिए फिर नो सोचेंगे इसने ब्याह दो कट्टे रहेंगे ब्याहे पाछे इसकी अपनी समस्या ना ले पड़ती यू माँ बाप ने भूल सह नून मिर्च तेल लकड़ी भाई कितने लाऊ कि जाना सह और बालक हो गए कोई बीमार से कोई <laughs> किसे के मेरी से यानी माँ बाप का पांडा छोड़ कर वो अपनी समस्या में आप लोट पोट होता चला जा तो यही प्रक्रिया सतपुरुष ने अपनाई कि यू अच्छा छोरा हुआ भाई कदे कैसे सामग्री चाहिए कदे लोग चाहिए रीबनों का मन जीव चाहिए इबका इसने इसे जीव दे दूंगा कि यू भी सुख्त सो लेगा एक सुंदर लड़की तैयार करी जिसको आदि माया कहते हैं आठ बुझावा वाली जब इसका आठ बुझानी थी एक नो की नो थी फिर इस, इसके पास ये शक्ति है कि आठ भी बना ले या बीस भी बना ले पर अष्टंगी कहें से इसमें आठ सक, आठ उनसे ज्यादा शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश या इनकी मां से अब बताएंगे आगे जरिया लड़की बहुत खूबसूरत थी सहज दास निरंजन के पास छोड़ गया कि इस लड़की के पास शब्द शक्ति है और ये आपकी सृष्टि शब्द से रच देगी जिस प्रकार सत्पुरुष ने शब्द से रच दी आपने सुना है कि बाल्मीक ने लव नाम का एक लड़का था वो तो होया था नौके से सीता कर कुछ नाम का लड़का वैसे रच दिया था ये सत्य है चाहे दोनों शीता का हुए हो परंतु कर सकते हैं इस चीज में शक्ति है गोरखनाथ जिया ने अपने गुरु मच्छंदर की जड़ी हुई राख में तय कति भस्म कर गुरवा दिया था उसमें से वह छोटे थोड़े से दो चार हड्डी बच रही थी वह कट्ठी करके अपने मंत्र से गुरु जीवित कर लिया था महाराज कहे गरीबदास जी के ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कबर फड़वा कर एक हजार वर्ष के मरे हुए अस्थि पंदर को अपनी सिद्धि शक्ति से जीवित कर दिया पर उनको भी बंदी छोड़ गरीबदास जी कहे कि मुर्दे कहाँ था तो भी मुर्दा माही और बिन साहेब की बंदगी कितने छोड़ ठकाना नाही मुर्दे को जिंदा करने वाले को भी गरीबदास जी मुक्त नहीं मानते और हम उन्होंने को थोड़ा बहुत कर दे वो भी पार नहीं ये जो पूर्ण भक्ति वाला संत होता है उसमें ये सिद्धियां सवता आचार तो इस प्रकार ने बोला इसमें शब्द शक्ति है आपकी सृष्टि रच देगी वो यू कह कर वो तो चला गया पर उसके मन में विकार पैदा हो गया कि मैं इसके साथ भोग विलास करूं लड़की भी समझ गई सी अनजान नहीं होती उससे बाप की वह बेटी थी उससे धरता आई थी इतनी शक्ति थी सूक्ष्म रूप बनाकर उसके दुराचार को भाट कर छोटा रूप बनाया और उसके मुंह में जाकर पेट में प्रवेश कर गई जो कर भूत बढ़ जा कर फिर बोलिया कर भीतर है तो इस प्रकार अंदर जाकर आवाज दी कि हे परमात्मा हे पिता मैं कहा भेज दी इस नीच के पास इसने तो मुझे खा लिया सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि लड़की ने बार काट दे और उसको श्राप दे मेरी तरफ से कि एक हजार जीव रोज खाया करेगा तने यह खान की सौंप पड़ी है एक लाख सौ हाँ भूल जा क्यों तीन घंटा व्यंजन गर्म होले से एक लाख जीव रोज खाया करेगा बेटा अजा तू छेक लेगा और एक और कह दे कि इसने यहां से निकाल दे इस सतलोक में नहीं रहेगा और मेरे दर्शन आज पाछे निरंजन नहीं करेगा और जितने भी जीव उत्पन्न हो वहां से आए थे माई लेकर आई थी उन सब जीवों की मर्जी से पूछा था भाई तुम उस लोक में जाना चाहो सो कहा अग्निरंजन निरंजन के में वो नारा हुआ से अग्नि कोई दुख तो नहीं होगा दुख कति नहीं भाई देखो कोई कष्ट तुम उल्टा आना चाहो ने तो इस सार नाम ने ना छोड़ियो इस सार नाम ने जब तेरी हो जब ले आऊंगा तुमने काट के अरे सार नाम भूल गए तो फिर मेरे बस की बात नहीं बोले जी कतिया ना बुलाना है अब वो जितने भी हम यहाँ आए थे अपनी इच्छा से आए थे जैसे विदेश में दूसरे राज्य में कई बार कर्मचारियों ने भेजा करें और उनको नो बता करें भाई बड़ा दुगनी तनख्वाह मिलेगी डबल और रेजिडेंशियल क्वार्टर फ्री होंगे छह महीना में आओगे आने जाने का किराया पूरे परिवार का मिलेगा और दुख कोई नहीं बस नो कहे पानी का तेल में थोड़ा पानी में तेल ताल सा और कोई तकलीफ नहीं तो इस प्रकार सब अपनी इच्छा से फार्म भरते हैं और वहां जाकर देखें किसी का पानी की लाग होगी वह दुगने पीछे उड़े लगेगा तो भाव ये से कहने का हम वहां से कूद का आए आज अपनी इच्छा तो ठीक से उड़े कूद ध्यान हंडा करांगे और उसने मुर्गे बना दिए हमारे फिर जादूगरियों की तगड़ा निरंजन तो वहां से निकाल दिया सारे उस माई समेत उसके पास बीज शक्ति थी गुप्त रूप में और सब जीव वो लेकर आई थी वहां से निकाल दिया 21 ब्रह्मंड समेत वहां अपने सतलोक से 16 संख कोष की दूरी पर हमें यहां धेरे में घेर रखा नील पदम संख 16 संख कोष अब किलोमीटर कितने बढ़ेंगे ये हिसाब ला लियो इतनी दूरी पर सतलोक है तो वहां से जब हम यहां आ लिए तो उस निरंजन ने रास्ते में सहजदास मिला उस अर्ज करी के मुझे यहाँ स्थान दे दो न बोला भाई महाराज तो पूछू पहला सतपुरुष तो फिर तेरा विमान तारूंगा इक्कीस ब्रह्मण समेत सतपुरुष ने पूछा कि महाराज आपका एक नौकर आपका पुत्र ऐसे ऐसे निरंजन नु कह मुनाड़ राख लो आपका के हुक्म परवरदिगार नो बोला उस नीच ने फटाफट यहां से दूर भेज दो और खबरदार उसको वहां रखे ने बोला वापस जब उसकी समाधि आई सहज दास की ने बोला बीरा मेरे बस की बात है अपना नीचे अंचार आगे कबीर साहब रूप में सत्पुरुष बैठे महाराज के आगे कबीरा रोकी जहां पहुंचे जहां बिखमी घाटी तहां कबीरा रोकी बाटी सहज निरंजन मतलब निरंजन के फिर वहां से आगे चलता कर दिया भाई यहां नहीं रहेगा गोड़ी हो जा नीचे आ जाते हैं अब जब यहां वो निरंजन और वो लड़की दोनों आ जाती है उस समय उसके मन में ये प्रभावी था विकार उस लड़की के विनय करने पर भी नहीं माना कि मेरे पास समझ सकती है जितने जीव कहोगे मैं बना दूंगा पर यह कोबद शुरू बना दूंगी पर कोबद ना शुरू करे पर एक नहीं सुनी उसने और जबरदस्ती काम वासना वश होकर के तीन पुत्र उत्पन्न किए एक का नाम ब्रह्मा बड़े का दूसरे का विष्णु तीसरे का शंकर और फिर उसने ज्ञान हुआ कि तने जबरदस्ती गलती कर दी है ये माई बड़ी होकने के बाद अपने बच्चा ने नो बतावेगी तेरा बाप ईसा था भाई क्यों दुखी तेन होना ऐसे आ गई भावना पाड़न लाग फिर मां विष्णु महेश के सुखी से बेचारे और फिर ये नो कहेंगे कि माया को भी चलाई किसने ऊ भी तो काम चल रहा था जिस सबल शक्ति छोटी मोटी उनमें भी है वो भी कर सके थोड़ा बहुत भाई तो फिर उन्हें सोची निरंजन ने कि ईसा काम कहीं न दिखे नहीं बोला उस अपनी पत्नी ते कि ईब तरह तीन बेटे हो गए न पाल पोस और जगत की जिम्मेवारी तेरी से पालों की और मैं निराकार हो जाता हूं किसे नहीं दिखूंगा आज के बाद मेरे दर्शन नहीं करेगा कोई भी यहाँ का प्राणी और मैं निराकार रूप में स्त्री मदद करता रहूंगा वन रोण लागी वली मैं एक काम चलाऊंगी गुप्त रूप में मेरी शक्ति तेरे पास आती रहेगी जब ये बच्चे तेरे सियाणे हो जाए न सागर मंथन भेज देना उसमें जो वस्तु मिले एक एक दे देना मिला अच्छा अब ये सागर मंथन की कथाएं भी आप सुनते हो पर अधूरी कोई कहे ब्रह्मा तो राम कृष्ण और ब्रह्मा तो विष्णु बन गया कोई कहे विष्णु तो वो बन गया फिर नो कह तीनों एक शक्ति यह भी कोई बात हुई कहते एक कहने फिर नो कह तीन लोग के मालिक कदे कह पूर्ण ब्रह्म यह भी कोई बात हुई कदे डीसीए को प्रधानमंत्री को एक जगह डटो तो हम कहीं नहीं रुके यानी अज्ञानता के कारण पूरी जानकारी ना हुई इस बात का सब प्रमाण दे है कि शुरू में एक जवान हुआ स्त्री और पुरुष का जोड़ा हुआ था अब बंदी छोड़ इस बात का सतवचन प्रमाण देते हैं कि शुरू में निरंजन और माया हुई थी इस तरह सृष्टि रची गई तो कहते हैं तीन पुत्रांत आगे फिर यह सारी सृष्टि रची गई फिर क्या हुआ सागर मंथन करने गए आ जब वह सियाणे हुए न पूछण लागे मां मारा बाप कौन सा है अग बेटा मैं सू थारा बाप और मैं थारी मां और कोई नहीं बालक थे कोई बात ना कते फिर सागर मंथन के लिए भेजा ऊपर से गुप्त आवाज आई कि इनको सागर मंथन भेजो आकाशवाणी हुई सागर मंथन के लिए जब गए सबसे पहले वेद निकले चारों वेद जो ब्रह्मा को प्राप्त हुए अब कई भाई कई संत ये कह एकादि संत कहे ये तो जो कि वे चार ऋषिया चार वेद लिखे उन ऋषिया के नाम भी हैं कोई अग्नि ऋषि अग्नि अग्नि ऋषि है तीन चार नाम से उनके वो सुनावांगे पढ़ कमरा याद नहीं रंदे गणे थे क्यों और गणी याद कर ली इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उसी बातें हैं जो सच्चाई की नहीं अच्छा तो उन चार ऋषिया ने कहते हैं चार वेद लिखे अब इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान तो एक वेद का एक ऋषि ने था अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था जिसने पूरा ज्ञान नहीं था एक वेद के ज्ञान का और एक का वेद लिख दिया और इस बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदास जी ने चारों वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ एकले ने लिख दिए तो यह सच्ची को एकले का था नहीं कबीर साहब जो बात कहें गरीबदास जी वो सत्य है कि सागर मंथन में ये चार वेद निकलेगी उसके बाद अलग अलग किसी ने विष निकला फिर जहर निकला अमृत निकला ये बड्डा रोड़ा से फिर जब वो बच्चे कहने लगे कि माँ अब तक को थी फिर माँ ने वेद पढ़े कि अब तक कह थी तो आपका कोई पिता नहीं वेदों में लिख रखा कि ईश्वर सारी सृष्टि का कोई और से अग बेटा वो तुमने दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि उसमें ज्योत में परमात्मा का वर्णन ज्यादा आता है एक निराकार शक्ति है और लिख रखी कि वे योग समाधि से पाऊंगा अकनी बेटा तना नहीं पावो अक पावेगा जब लिख रख्या वेदा में अग ढूंढता चार युग तक ब्रह्मा ने समाधि लाई पर वो दर्शन नहीं हुए ज्योत निरंजन के भी वो प्रकाश भी नजर नहीं आया जो निरंजन का ब्रह्म का अब ये और काफी लंबा चौड़ा है कि उसने लड़की एक अपनी सबल शक्ति से लड़की तैयार करी माया ने आदि माया अष्टंगी ने और वह लड़की भेजी के जा ब्रह्मान बुला के ला उसने जाकर उसके चरण छुए चरण छूने ब्रह्मा ने समाधि तोड़ी और गुस्सा होकर उसको शराप देने लग गया कि दुष्टनी पापणी तो मेरी जो है ना तेने मेरा योग भंग कर दिया मेरा धर्म भंग कर दिया वह जोड़ कर ने बोली पहले मेरी बात सुन दो पाछे शराप देना आपकी माता ने मुझे भेजा है और बुलाए सो सृष्टि रची नहीं जाती आपके बिना तो शांत हुआ न बुलाने के ऊपर चालो माँ का आगे कह कहा था कि मैं जब आऊंगा जब दर्शन कर लूंगा मैं तो नहीं जा सकता कि मुंह दिखाऊंगा एक साथ पर चालूंगा तो मेरी झूठी गवाही दे दी कि इसने दर्शन हो गए वह नो बोली मैं तो झूठी दे दू तड़के तू नो कह देगा कि मैं उन्हें कहूं था या झूठ बोला से तो यहां लिखा है कबीर साहब ने गरीबदास जी ने कि वह कहने लगी कि पहले मेरे साथ भोग क्रिया करो जब मैं चालो कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसा ही किया फिर उस लड़की ने एक लड़की और तैयार करी कि गवाह भी चाहिए उससे कहा कि आप हमारी गवाही देना कि ब्रह्मा ने भगवान निरंजन के दर्शन हुए ब्रह्म के उसने भी ऐसा ही किया कि मैं झूठी जो क्यों कर दू तुम दोनों नाट जाओ मन पिटवाओ तो कहते हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल यहां करने का पूर्ण विधान है उसके साथ भी ऐसा ही किया तीनों आ जाए आकर के न बोले ब्रह्मा कहने लगा कि माई में आ गया कि बेटा तुम दर्शन हुए पिता के कहा हो गए